हेलो हाँ जी नमस्ते सर नमस्कार कौन विष्णु नाथ तिवारी बोल रहे हैं जी जी अच्छा विष्णु जी आपका नंबर मेरे पास काशीनाथ जी ने दिया है जी सर अच्छा आप ये बताइए आप यहाँ गौरीकुंड से आए हैं हाँ जी मैं अभी गौरीकुंड से पहुँचा हूँ जैसे अभी पंद्रह मिनट पहले जी अच्छा गौरीकुंड में हाँ क्या हालत है जैसे लोग बता रहे हैं कि गौरीकुंड में पूरा तबाह हो गया है वहाँ पे बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं बहुत सारे मतलब कयासबाजी जो चल रही है फेसबुक पे है तमाम मीडिया में है ये है लेकिन वहाँ की स्थिति मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता आप वहाँ से लौटे हैं हाँ जी सर मेरे हाँ जी मैं वही गौरीकुंड सर मेरा वही वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था न्यू होटल करके अभी चार चार दिन से सर हम वहाँ पे इतनी भयंकर बाढ़ आई की पता ही नहीं चला सर कभी तो कैसे करके हमने जब अपनी जाने बचाई उस दिन सर वहाँ पे कम से कम पंद्रह हजार आदमी थे जी जिसमें से पाँच हजार आदमी तो खत्म हो गए सर मतलब पाँच हजार आदमी आप कहते हैं कि खत्म हो गए वहाँ पे जी अच्छा तो क्या गौरीकुंड में हालत और क्या किस तरह के हाल वहाँ पे हैं किस तरह से लोग रह रहे हैं जैसे लोग जो बता रहे हैं कि भारत सेवा आश्रम की जो बिल्डिंग थी वो वहाँ पे बह चुकी है क्या लगता है क्या आप कहें हाँ जी भारत सेवाश्रम की बिल्डिंग भी सर वहाँ पे आदमी